कैवल्य उपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत बहुत पुस्तक में अथर्वेद क्या लिखा गया और शांति भी सहना हो तो शांति कहीं सहना हो तो शांति तो मंत्र लिखा गया किंतु अथर्वेद लिखा गया और कहीं कहीं वांग में नहीं भद्रम करने भी शांति कहीं कहीं लिखी गई किंतु ये मुक्ति के उपनिषद में स्पष्ट लिखा गया है ये कैवल्य उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय है इसलिए सहना हो तो शांति है अन्य पुस्तक में कहीं कुछ लिखा गया तो उसको देख करके भ्रांत नहीं होना ये कृष्ण यजुर् प्रमाण इसमें है मुक्ति के उपनिषद मुक्ति के उपनिषद में स उपनिषद का नाम और उसमें क्या शांति मंत्र ऐसे उसमें है सगुण परमेश्वर का ध्यान करने पर तो सगुण ब्रह्म को प्राप्त करता है अज्ञान अवस्था में ज्ञान प्राप्त करने पर मुक्त होगा ब्रह्म लोक से क्रम मुक्ति और निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान साक्षात्कार हो जाने पर वो सर्वात्मक ब्रह्म हो जाता है वही कहा गया तमस परस्तात् समस्त साक्षिणम ध्यात्वा मुनिर्गछति भूत योनिम इसमें ये कहा गया है जो कारण है माया विशिष्ट उसको प्राप्त करेगा ब्रह्मलोक जाएगा किंतु यदि ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो समस्त साक्षिणम तमसा परस्ताद कह करके ज्ञान का फल बताया अज्ञान से पर शुद्ध चेतन ब्रह्म है तद्रूप हो जाता है ब्रह्म सर्वात्मक है इसलिए ज्ञान प्राप्त करने पर ब्रह्म ज्ञानी सर्वात्मक हो जाता है सैव विष्णु स प्राण स कालाग्नि स चंद्रमा ये यहाँ तक हुआ था टीका में चंद्रमा शशांक यहाँ तो हुआ था सैव उत्त सर्वम सैव सर्वम सर्वम का अर्थ निखिलम निखिलम सर्वम क्या लेना है किसको यद भूतम यच भाव्यम यत शब्द देने से प्रसिद्ध है यत जो जो आ रहा है उसका नाम चैत्र है जो कह कर दिखाते जो आ रहा है दिखाओ अतः लोक में जो प्रसिद्ध ऐसे कहने के लिए यथ जो ये यथ कहन से उसका अर्थ हो गया प्रसिद्धम जो प्रसिद्ध है निखिलम का अर्थ तो सर्वम का अर्थ तो निखिल हुआ किसको लेना जो प्रसिद्ध है अतीत यद भूतम प्रसिद्ध यथ से प्रसिद्ध हुआ भूतम भूतम या तो अतीतम यच्च भाव्यम यच्च यद्यपि भाव्यम भाव्य तो भावी भविष्य में होने वाला यच्च चकार देने से चकाराद वर्तमानम अपनी विलेना अतीत वर्तमान भविष्य काल में जितने होने वाले है सब कुछ वह है ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं था अभी नहीं है आगे भी कुछ हो नहीं सकता है शुद्ध एक अद्वितीय ब्रह्म है पारमार्थिक सत्य निर्विशेष अतिरिक्त तो कुछ नहीं अज्ञान के कारण दिखता है वो ब्रह्म से भिन्न नहीं क्योंकि अध्यस्त वस्तु की सत्ता अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती है अधिष्ठान की सत्ता ही उसमें दिखती है राज्य सर्प राज्य में जो सर्प दिखता है अयम सर्प सर्प अस्थि ऐसा जो कहते हैं वहाँ सर्प है ही नहीं सर्प में सत्ता दिखती है रज्जु की सत्ता सर्प में दिखती है और रज्जु को यदि हटा दे रज्जु की सत्ता रहेगी वहाँ नहीं रहेगी नहीं रहने से सर्प में सत्ता कहाँ से आती है उस समय सर्प दिखता है रज्जु की सत्ता नहीं रहने पर सर्प में सत्ता रहेगी सर्प ही नहीं रज्जु है तो सर्प है इसलिए रज्जु की सत्ता सर्प में दिखती है रज्जु का स्फुरन होगा तो सर्प का स्फुरन होगा अधिष्ठान के स्फुरन के बिना अध्यस्त का स्फुरन प्रतीत नहीं होती है जो रज्जु सामने है भ्रांति से सर्प दिखता है रज को ढाक दे कपड़ा से किसे ढाक दे तो सर्प वहां रहेगा दिखेगा सर्प है नहीं आपके पास आ जाएगा सर्प रज्जु की स्फुर स्फूर्ति हो तो सर्प दिखेगा रज्जु के स्फुरने के बिना सर्प नहीं दिखेगा रज्जु हटा दिया तो सर्प दिख रहेगा दिखेगा रज्जु की सत्ता हो तो सर्प की सत्ता रज्जु की स्फूर्ति होने पर सर्प का स्पूर्ण प्रतीति इसलिए अधिष्ठान की सत्ता और स्फूर्ति होने से अध्यस्त की सत्ता स्फूर्ति व्यवहार की जाती है अध्यस्त की सत्ता है ही नहीं अध्यस्त का प्रमाण से ज्ञान नहीं होता है ऐसे दिखता है केवल जैसे स्वप्न प्रपंच दिखता है साक्षी के द्वारा प्रमाण से नहीं है प्रमाण से दिखेगा तो वास्तव हो जाएगा सामने रज्जु सर्प है लगता है आंख से देख रहे आंख बंद करने पर सर्प दिखेगा आंख खोलेंगे तो दिखता है तो अन्वय व्यतिरिक से चक्षुर्ग्राह्य सर्प से लगता है किंतु वस्तु तो चक्षुर्ग्राह्य नहीं चक्षु है प्रमाण चक्षु प्रमाण से ग्रहण होगा तो प्रामाणिक सत्य हो जाएगा तो चक्षु बंद करने से क्यों नहीं दिखता है सर्प को देखने के लिए अधिष्ठान ज्ञान चाहिए अधिष्ठान के स्फुरन के बिना अध्यस्त का स्फुरन नहीं होगा अधिष्ठान को देखने के लिए चक्षु खोलना पड़ता है जो सर्प देखते उस समय चक्षु के द्वारा रज्जु दिखती है ज्ञान रज्जु तो नहीं होने पर भी दिखती है रज्जु रज्जु नहीं देखे ढाक दिया तो सर्प दिखेगा तो रज्जु दिखने पर सर्प दिखता है तो रज्जु की स्फूर्ति रज्जु का स्फुरन ज्ञान होने के लिए चक्षु खोलना पड़ता है अधिष्ठान का स्फुरन होने से अध्यर्थ दिखेगा उस समय अज्ञान के कारण रज्जुत्व तो ज्ञान नहीं हुआ तो वहाँ सर्प दिखता है रज्जु के अज्ञान से सर्प दिखता है तो रज्जु की सत्ता होने से सर्प की सत्ता दिखती है रज्जु का स्फुरन होने पर सर्प दिखेगा अधिष्ठान की सत्ता स्फूर्ति अध्यस्त में दिखती है और अध्यस्त वस्तु को देखने के लिए अधिष्ठान ज्ञान चाहिए इसलिए चक्षु की आवश्यकता है चक्षु से देखने के लिए किंतु चक्षुर्ग्राह्य सर्प नहीं है रज्जु तो चक्षुर्ग्राह्य है सर्प नहीं है सर्प दिखने पर भी जिस समय दिखता है सर्प रज्जु में उस समय चक्षु से दिखेगा नहीं उस समय भी चक्षुर्ग्राह्य नहीं है चक्षुर्ग्राह्य तो रज्जु ही है सर्प है साक्षी भाष्य वो साक्षी जैसे स्वप्न प्रपंच को देखने वाला साक्षी है स्वप्न प्रपंच का दृष्टा प्रमाता नहीं है प्रमाता है अंतकरण विशिष्ट चेतन स्वप्न प्रपंच है वासना में प्रपंच अंतकरण मन ही वासना विशिष्ट मन ही स्वप्न प्रपंच रूप से रूप से परिणत हो जाता है वासना में प्रपंच मन ही विषय बन जाता है मन ही विषय यदि बन जाएगा तो दृष्टा प्रमाता उसका ग्राहक नहीं होगा क्योंकि अंतकरण विशिष्ट चेतन है प्रमाता उस समय अंतकरण ही स्वप्न प्रपंच विषय बन जाएगा तो प्रमाता अंतकरण विशिष्ट चेतना नहीं रहेगा वो साक्षी अंतकरण से उपहित तो चेतना रहेगा अंतकरण उपाधि है वो अंतकरण विषय बन जाने पर भी साक्षी उसको प्रकाश करेगा न कि प्रमाता प्रातिभाषिक सर्प आदि को स्वप्न प्रपंच को साक्षी ग्रहण करता है व्यावहारिक पदार्थ का ग्रहण चक्षुरादि प्रमाण से होता है चक्षुरादि व्यावहारिक प्रमाण है उसके द्वारा व्यावहारिक प्रपंच का ज्ञान होगा प्रातिभाषिक है रज में सर्प सुक्ति में रजत उसको प्रातिभाषिक कहते जिसका बाध ब्रह्म ज्ञान के बिना भी हो जाता है रज्जु में सर्प दिखता है रज्जु ज्ञान हो गया ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तो सर्प का बाध होगा है ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं रज्जु ज्ञान होने पर सर्प का बाध हो जाता है इसलिए वो प्रातिभाषिक है और जो व्यावहारिक प्रपंच है उसका बाध ब्रह्म ज्ञान के बिना होगा है ब्रह्म ज्ञान के बिना नहीं होता है इसलिए जिसका बाध ब्रह्म ज्ञान से ही होता है वही व्यावहारिक है जिसका बाध ब्रह्म ज्ञान के बिना भी हो जाएगा वह प्रातिभाषिक है ब्रह्म ज्ञान के बिना भी ब्रह्म ज्ञान होने पर भी बाध हो जाएगा राज्य में सर्प देख रहा है अहम ब्रह्म साक्षात्कार हो गया तो सर्प का बाद होगा ब्रह्म ज्ञान होने से सब का बाद हो जाएगा दिखने पर मिथ्या तो निश्चय हो गया तो ब्रह्म ज्ञान के बिना भी जिसका बाद होता है उसको क्या कहेंगे प्रातिभाषिक और जिसका बाध ब्रह्म ज्ञान के बिना भी हो जाता है क्या कहेंगे और व्यावहारिक किसको कहेंगे जिसका ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से ही होता है व्यावहारिक पर्वत चंद्र सूर्य आदि व्यावहारिक है प्रातिभाषिक है व्यावहारिक मरुह में जल और पुत्र प्रातिभाषिक भी नहीं व्यावहारिक भी नहीं क्योंकि उसकी प्रतीत नहीं होती है प्रतीत होती बाध भी नहीं होगा प्रतीत हो तो बाध होगा जिसकी प्रतीत होती है और बाध होता है वो मिथ्या है बंध्या सूत्र की प्रतीत प्रतीत नहीं होती और बाध भी नहीं होता है बंध्या पुत्र असत्य है असत्य की प्रत्यक्ष प्रतीत नहीं होती है तो यद भूतम यच भाव्यम सब कुछ है ब्रह्म है वर्तमान अपनी जितने है वर्तमान काल में भी अध्यस्त वस्तु की सत्ता अलग नहीं है पहले भी नहीं थी आगे भी नहीं होगी सब वर्तमान है सनातनम चिरंतनम ब्रह्म है यही ब्रह्म है सनातन उसको जानकर ज्ञातवा तम मृत्यु मत्येति जो नित्य ब्रह्म है सबका अधिष्ठान है सारे प्रपंच ही ब्रह्म है सर्व खलु इदम ब्रह्म सामवेद में श्रुति कहती है सर्वनास्तिक दो ब्रह्म है जो कुछ त्रिकाल में प्रतीत होते हैं सारा जगत वर्तमान अतीत भविष्य सब ब्रह्म ही है ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है ऐसे ब्रह्म चिरंतन सनातन है उसको जान करके ज्ञातवा ज्ञान है साक्षात्कार कैसे साक्षात्कार अहम ब्रह्मास्मि इति साक्षात्कृत ज्ञातवा करता साक्षात्कृत्य साक्षात्कार भी इदम तेन नहीं अहम अयम आत्मा ब्रह्म कहें तो अभी हुई है अयम आत्मा अहम ब्रह्म साक्षात्कार होता है साक्षात्कार करने पर तम तम ज्ञातवा तम तम का तो तम आनंद आत्मान आनंद रूप ब्रह्म है उसको साक्षात्कार करने पर मृत्युम अत्येती मृत्युम अविद्याम ससंस्काराम अत्येति अतिथ्य कथति अविद्या है मृत्यु विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होती है तो विद्या से अन्य अविद्या मृत्यु है अविद्या मृत्यु को अतिक्रम कर लेता है अविद्या को अतिक्रम कर लेता है अविद्या का कार्य अविद्या का संस्कार सब ससंस्काराम संस्कार न सह संस्कार के साथ अविद्या सब को अतिक्रम कर लेता है विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया सब मुक्त हो जाता है नान्य पंथा विमुक्त नान्य उत्ताद ब्रह्म ज्ञात अतिरिक्त पंथा मार्ग विमुक्त अर्थम नास्ती शेष अन्य जितने साधन सब साधन ठीक है साधन के द्वारा अंतकोण शुद्धि वैराग्य जिज्ञासा हो सब ठीक है साधन कोई साधन व्यर्थ नहीं है किंतु मुक्ति तो ब्रह्म ज्ञान से ही है ब्रह्म ज्ञान के बिना नहीं ब्रह्म ज्ञान होने के लिए अंतकोण शुद्धि के लिए तपो यज्ञ दान आदि सब साधन है किंतु मुक्ति तो ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान के बिना अन्य कोई साधन से मुक्ति नहीं है बहुत लोग मानते हैं ज्ञान की क्या आवश्यकता है वैसे समर्पण करो भक्ति करो प्रेम बड़ा मुक्ति सब करो ठीक है सब करने पर अंतकोण शुद्धि वैराग्य होना चाहिए वैराग्य नहीं होता है तो भक्ति नहीं है भक्ति तो होने पर वैराग्य होना चाहिए ईश्वर में भक्ति है तो संसार में से वैराग्य संसार से वैराग्य नहीं होता है तो ईश्वर में भक्ति नहीं है खाली भक्ति शब्द है तो बेस बनाने से नहीं संसार से वैराग्य जो ज्ञान के लिए आवश्यक है तो भक्ति होने पर दृढ़ भक्ति होने से पराभक्ति होने से भक्तिया माम अभिजान आती यावान यश्चास्मि तत्वतः भक्ति दृढ़ होने पर पराभक्ति होने पर उसे साक्षात्कार करता है वो साक्षात्कार ब्रह्म ज्ञान से अन्य मार्ग है ही नहीं विमुक्ति के लिए उक्तात् ब्रह्म ज्ञानाद व्यतिरिक्त पंथा मार्ग विमुत विमुत का था विमुक्त अर्थ नास्ती मुक्ति के लिए दूसरा मार्ग नान्य पंथा विमुक्त क्रियापद क्या है नान्य पंथा विमुक्त क्रियापद क्या है अस्ति न का जो हो जाए नास्ति अभी यहाँ तक बता दिया व्याख्यान हो गया यदवा कह करके अभी कहते त्रयाणाम विश्व तेजस प्राज्ञानाम विराट हिरण्य गर्भ ईश्वराणाम वा स्वयं प्रकाशत्व लोचनम प्रकाश स्वरूपम त्रिलोचनम ये नवम मंत्र में आया था उमा सहायम परमेश्वरम प्रभुम त्रिलोचनम नीलकंठम प्रशांतम त्रिलोचन कहते हैं तीन चक्षु ही सोम सूर्य अग्नि अभी यहाँ कहते तीन लोचन है तीन प्रकाश स्वरूप है लोचन चक्षु है ज्ञान का साधन जैसे प्रकाश है ये तीन लोचन कौन हुए यहाँ अभी कहते विश्व तेजस प्राज्ञा नाम विराट हिरण्य गर्भ ईश्वराणाम्बा विश्व तेजस प्राज्ञ व्यष्टि स्थूल सर अभिमानी का नाम क्या है विश्व तेजस विश्व समष्टि स्थूल अभिमानी का नाम और व्यष्टि स्थूल अभिमानी विश्व विश्व है विश्व तेजस विश्व किसका नाम हुआ व्यष्टि स्थूल अभिमानी का नाम अभिमानी आत्मा विश्व है व्यष्टि और समष्टि में भेद इस प्रकार जैसे वृक्ष और वन वन में बहुत वृक्ष है एक एक का नाम वृक्ष है सबको मिलाकर क्या कहेंगे वन और इसी प्रकार व्यष्टि सूक्ष्म सर अभिमान का नाम तेजस समष्टि सूक्ष्म सर अभिमानी है हिरण्य गर्भ और व्यष्टि कारण सर अभिमानी है प्राज्ञ समष्टि है कारण सर ईश्वर है कारण सर कारण उपाधि का माया उपाधि का विराट हिरण्य गर्भ ईश्वर नाम वा व्यष्टि समष्टि में स्थूल हो सूक्ष्म हो कारण हो तीनों में इसी प्रकार वृक्ष बन के समान एक ही है एक एक का नाम लेंगे तो विश्व सबको लेंगे तो विराट एक एक सूक्ष्म सर अभिमानी का नाम तेजस सारे को मिला दिया तो हीरा ने गर्भ समर्षि प्राण उपाधि का इसी प्रकार माया उपाधि का ईश्वर और एक एक अलग अलग भेद को लेकर के व्यवहार करेंगे तो प्राज्ञ स्वयं प्रकाशत्व ना सब स्वयं प्रकाश क्योंकि आत्मा ही है अन्य सब में उपाधि अलग अलग है स्थूल सूक्ष्म कारण उपाधि का है आत्मा ही है विश्व से प्राज्ञ आत्मा स्वयं प्रकाश है स्वयं प्रकाश होने से वही लोचनम यस्य प्रकाश स्वरूपम त्रीणी लोचना यश्य विग्रह तो ही है पहले तीन लोचन चंद्र सूर्य अग्नि ऐसे कहा गया था यहाँ कहते विश्व से प्राज्ञ कहो अथा विराट हिरण्य कर विसर्ग कहो तीन लोचना के समान पक्ष के समान उसे सारे सब का प्रकाश होता है नीलकंठम नीलम कंठे यश्य नीलकंठम नीलम का शब्द से नील काला है ये अंधकार काला होता है नीलम का था तम अज्ञानम अज्ञानम से अज्ञान कंठ में क्या है सारा चेतन ब्रह्म है अज्ञान सर्वव्यापक है क्या ब्रह्म में सर्वत्र ब्रह्म के एक देश में कल्पित अज्ञान है वो अज्ञान ब्रह्म सारे ब्रह्म नहीं अपरिचिन्न ब्रह्म है अनंतम ब्रह्म और कोई नहीं है अज्ञान भी कल्पित है तो एक देश ब्रह्म का अवयव है या नहीं निरवय ब्रह्म का एक देश में अज्ञान है यदि ब्रह्म निरवय उसका एक देश में ब्रह्म कैसे होगा तो ये पंचदेश में आया जो शिष्य तद भाषाया उत्तरम वृत्ते वृत्ते श्रुति शिष्य हितैषणी श्रोत्री श्रुति श्रोत्र हितैषणी उसके पहले नहीं नहीं वो वो कहते हैं शिष्य पूछता है वो अविद्या सर्वत्र है या एक देश में इति पृष्ठत पृछतः जब वो शिष्य पूछता है ब्रह्म का एक देश में माया है सर्वत्र है तो तद्भाष या उत्तरम वृत्ते श्रुति श्रोत्र हित आगे आता है उपस्थिता है माया सर्वत्र है या एक देश में है शिष्य अपने अभिप्राय से पूछता है ब्रह्म सर्वत्र माया है या एक देश में है तो वो ब्रह्म में साव तो कल्पना करके एक देश अथवा सर्वत्र ऐसा पूछता है तो उसकी भाषा से श्रुति कहती है एक देश में है एक देश में कौन से ये कंठ हो गया कंठवत चीत एक से अधिक व्याप्ति मत्व चैतन्य से वर्तते व्याप चैतन्य अधिक व्याप्ति मत व्यापक है अज्ञान की अपेक्षा जिस प्रकार कंठ है शरीर का एक देश इसी प्रकार चैतन्य के एक देश में अज्ञान है माया है एक देश इसलिए अज्ञान एक देश में रहेगा अज्ञान तो सारे ब्रह्म को आप ढकेगा कैसे जिस प्रकार बादल सूर्य को ढाक देता है सामने बादल आएगा तो ढाक देता है हाथ को इसे रखो तो ढाक देता है सूर्य उससे छोटा है ना बादल से या बड़ा है बहुत बड़ा है सामने इतना आ गया हाथ तो भी सब ढाक दिया इसी प्रकार दृष्टा को आवृत करता अज्ञान जो सूर्य है जितने बड़ा इतने बड़ा बादल नहीं है तो भी दृष्टा को आवृत कर देता है जिस प्रकार बादल इसी प्रकार जीव को आवृत कर देता अज्ञान एक देश में रहते हुए तो एक देश में कंठवत चिद एक देशे वर्तत यश्य नीलम कंठे यश्य कंठे का तो एक देशी एक देश में क्यों क्योंकि चैतन्य से अधिक व्याप्ति मत्व न चैतन्य से व्यापक है इसलिए यस्य स नीलकंठ नीलकंठ हो गया शुद्ध स्वरूप तम इति व्याख्यातम तथा विशदम नीलकंठ विशद है स्पष्ट अविद्या रहितम विशदम पहले आया था विशदम विशोकम विशद अविद्या रहितम विशोकम दुख संस्कार रहितम अविद्या रहित है विशद स्पष्ट निर्मल है और अविद्या कार्य रहित शोक रहित दुख संस्कार रहितम उमा सहाय उमा है ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या सहाय ब्रह्म विद्या सहाय यश ब्रह्म विद्याम प्रशांतम प्रकर्षण शांतम पुनरुत्थान संस्कार वर्जितम इति पुनरुत्थान संस्कार रहित संस्कार होगा तो पुनरुत्थान होगा ज्ञान हो गया शांत ब्रह्म है निर्गुण परत्व समग्र वाक्यम अवगंतव्यम यहाँ जो उमा सहायम परमेश्वरम प्रभुम त्रिलोचनम नीलकंठम ये सब सगुण ब्रह्म पर व्याख्यान किया गया था किंतु ये कहते निर्गुण ब्रह्म परत्व का अर्थ समझ लेना समग्र वाक्यम अवगंतव्य समझ लेना चाहिए पूरा वाक्य निर्गुण निर्गुण से आप उपलब्धत्व हृदय प्रदेश मध्यस्थत्व अविरुद्धम पहले हृत्पुंडरिकम विरजम विशुद्धम तो निर्गुण ब्रह्म हृत्पुंडरिकम विरजम विशुद्धम विचिंत मध्य ये जो कहा गया कैसे होगा यदि निर्गुण लेंगे तो निर्गुण से आप ही उपलब्धत्व तो निर्गुण ब्रह्म भी हृदय में उपलब्ध होता है अहम अस्मि ब्रह्म इसे ब्रह्माकार वृत्ति से अभिव्यक्त होता है वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य है वृत्ति है चैतन्य की अभिव्यंजिका जैसे घट पहले है प्रकाश होने से घट की अभिव्यक्ति होती न कि प्रकाश के द्वारा घट की उत्पत्ति नहीं होती अंधकार में घट है दिखते नहीं किंतु प्रकाश जलाएगा तो दिखा जिस समय घट दिखता है उस समय घट की उत्पत्ति हो जाती घट तो पहले था घट की अभिव्यक्ति होती इसी प्रकार शुद्ध ब्रह्म चैतन्य अपना स्वरूप है पहले से है नित्य ही है तो ब्रह्माकार वृत्ति की क्या आवश्यकता है उसकी अभिव्यक्ति करने के लिए वही ज्ञान है ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म स्वयं स्थित है अज्ञान का नाशक नहीं है अज्ञान का आश्रय है तो अज्ञान निवृत्ति के लिए ब्रह्म का ज्ञान चाहिए ब्रह्म का जो ज्ञान है उत्पन्न होगा प्रमाण से महावाक्य है प्रमाण प्रमाण से जो उत्पन्न होगा ब्रह्म ज्ञान वो नित्य है अनित्य है जो अज्ञान का निवर्तक ब्रह्म ज्ञान उसके लिए हम पूछ रहे वो नित्य है अनित्य है अनित्य है हम्म, नित्य नहीं था किसके मत में अज्ञान का निवर्तक ब्रह्म ज्ञान नित्य है कोई कोई मानते हैं हाथ उठाओ नित्य मानने वाले हाँ देखो कोई कोई मानने वाले है अज्ञान का निवर्तक ब्रह्म ज्ञान नित्य है नित्य नहीं है नित्य होता तो इतने साधन सुबह सुबह आकर के वेदांत श्रवण करना क्या जरूरत है अपने कमरा में सोचते नित्य ब्रह्म तो पहले से है ही वही अज्ञान को नष्ट कर देगा <laughs> हमारा क्या हमको क्या करना है ब्रह्म जो नित्य ब्रह्म है ब्रह्म ज्ञान वो पहले से है या उत्पन्न होगा नित्य ज्ञान उत्पन्न होगा क्या पहले से है अब पहले से है तो अज्ञान अब तो क्यों रहा वो तो नष्ट कर देता यदि नित्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक होता तो अज्ञान अब तक नहीं रहता क्योंकि नित्य ज्ञान तो पहले से नहीं तो नित्य कैसे होगा और अभी उत्पन्न होगा और नित्य होगा नित्य ज्ञान पहले से है क्या पहले से है तो इसलिए वो अज्ञान का निवर्तक नहीं वो अज्ञान का भाषक प्रकाशक नाशक नहीं ब्रह्म का जो ज्ञान उत्पन्न होगा वेदांत प्रमाण से वह अज्ञान का निवर्तक उत्पन्न होगा ब्रह्म ज्ञान किस प्रमाण से वेदांत वाक्य प्रमाण ही उसे उत्पन्न होगा वो ज्ञान ब्रह्म विद्या तो ब्रह्म विद्या अंतकरण में होती है ब्रह्माकार वृत्ति मनस एवं आप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन मनसा एव इदम मन से उसको जानना है यद्यपि यन मनसा न मनुते श्रुति कहती अवांग मनस गोचर वाणी मन का विषय नहीं मन का विषय नहीं फिर कहती मन से एवं इदम आप्तव्यम मन में ब्रह्माकार वृत्ति होती अज्ञान निवृत्ति के लिए इतने मात्र के लिए मन का उपयोग वेदांत प्रमाण का उपयोग ब्रह्माकार वृत्ति की उत्पत्ति में जो अज्ञान की निवृत्ति कर देगी अज्ञान निवृत्त होने पर उसको प्रकाश करने के लिए मन समर्थ है कौन समर्थ है चक्षु समर्थ है कोई प्रकाश नहीं कर सकते इसलिए कहते मन आदि का विषय नहीं है वाणी मन का विषय नहीं है शुद्ध ब्रह्म अज्ञान निवृत्त हो गया स्वयं प्रकाशमान है उसको प्रकाश करने के लिए किसी में सामर्थ्य नहीं है इससे यन मनसा न मनुते कहा मन के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है किसके द्वारा प्रकाशित नहीं होता है ब्रह्म स्वयं प्रकाश माने घट का ज्ञान होता है तो घट के अज्ञान ज्ञान होने के पहले घट का अज्ञान रहता है था क्या घट ज्ञान होने के पहले घट का अज्ञान था अज्ञान की निवृत्ति किससे होगी अज्ञान से ही घट ज्ञान से घट ज्ञान क्या पदार्थ है घटाकार वृत्ति घटाकार वृत्ति जड़ है या चेतन है जड़ वृत्ति कैसे ज्ञान को नष्ट करेगी वो भी जड़ ये भी जड़ वृत्ति तो जड़ है किंतु वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होता है चिदाभास चिदाभास के संबंध से जड़ भी चेतन जैसे लगती है अभी भी जिस जिसको आप चेतन कहते हो उसमें शुद्ध चेतन है जिसको हम चेतन कहते हैं उसमें तो शुद्ध चेतन है और जिसको जिनको जड़ कहते हैं उसमें शुद्ध चेतन है जड़ में भी शुद्ध चेतन है चेतन भी शुद्ध चेतन है तो जड़ को क्यों चेतन नहीं कहते चिदाभास नहीं जहाँ उसको जड़ कहते चिदाभास उनसे चेतन कहा जाता है अंतकर्ण में चेतन का प्रतिम्ब होता है चिदाभास जहाँ अंतकर्ण है उसको कहते चेतन जीव कहते बाकी अन्य चिदाभास नहीं तो जड़ तो वृत्ति तो है अंतकरण का परिणाम अंतकरण पांच भूत से उत्पन्न भौतिक है भूत से उत्पन्न जड़ है वृत्ति भी जड़ है क्योंकि अंतकरण का परिणाम जड़ होने पर भी चिदाभास के संबंध से चेतन जैसे लगती है वही ज्ञान है वृत्ति को भी ज्ञान शब्द से कहते गौण प्रयोग करते तो वृत्ति चिदाभास विशिष्ट वृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति होती है तो ज्ञान है विद्या की निवृत्ति के लिए अविद्या की निवृत्ति होने से ब्रह्म स्वयं प्रकाशमान है स्वयं प्रकाशमान होता है तो हृदय में ब्रह्माकार वृत्ति होने से हृदय में उसकी उपलब्धि होती है ब्रह्म का साक्षात्कार चक्षु आदि के द्वारा नहीं इदम असौ ऐसा नहीं अहम अस्मि ब्रह्म अहम अस्मि ब्रह्म ये वेदांत श्रवण करने के बाद जब तात्पर्य निश्चय हो गया श्रुति का जीव ब्रह्म की एकता है तत्व से अहम ब्रह्मासी वाक्यार्थ ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है और वाक्यार्थ ज्ञान होने के लिए पदार्थ ज्ञान चाहिए तम पदार्थ तत्पदार्थ का लक्ष्यार्थ निर्णय हो तो वाक्यार्थ बोध होगा उसके लिए श्रवण के बाद मनन करके वाच्यार्थ में विरोध है एक अल्पज्ञ जीव है सर्वज्ञ ईश्वर है अभेद कैसे होगा इसलिए वाच्यार्थ में विरुद्ध होने से लक्ष्यार्थ लेना पड़ेगा जहाँ वाच्यार्थ लेंगे तो तात्पर्य अनुपपत्ति विरोध होता है तात्पर्य में वहाँ लक्ष्यार्थ लोक में भी लिया जाता है श्वेतो धावती सफ़ेद दौड़ता है सफ़ेद वर्ण रंग गुण दौड़ेगा कि क्रिया होगी सफ़ेद गुण वाला अर्थ श्वेत का तो श्वेत रूप वाला अश्व धावती गंगायाम घोष गंगा शब्द का तो गंगा प्रवाह प्रवाह के अंदर कोई गांव आविरपल्ली नहीं है तो गंगा शब्द का अर्थ गंगा तीर करना पड़ता है लोक में भी लक्षणा से शब्द प्रयोग होता है तो अहम अस्मि ब्रह्म में यदि अल्पज्ञ जीव लेंगे ईश्वर सर्वज्ञ दोनों की एकता कभी नहीं होगी जितने ध्यान करे जितने शीर्षासन करे ढोल मृदंग पिटे कुछ भी करे जीव के साथ ईश्वर की एकता कभी नहीं होती है जो ईश्वर का लक्ष्यार्थ नहीं समझते हैं जीव का लक्ष्यार्थ नहीं समझते हैं वो अद्वैत वेदांत का खंडन करते हैं और अहम अस्मी ब्रह्म ये कहने वाले की निंदा करते हैं द्वेष करते हैं गाली देते हैं पापी कहते हैं क्योंकि लक्ष्यार्थ नहीं समझते लक्ष्यार्थ में एकता है यदि कोई वेदांत अहम ब्रह्म इसे मानता है लक्ष्यार्थ को नहीं समझ करके अहम ब्रह्म मानता है तो भ्रांत है कुछ नहीं होगा इसी प्रकार जो द्वैतवादी अद्वैतवादी की निंदा करते द्वेष करते लक्ष्यार्थ नहीं समझ करके शास्त्रीय सिद्धांत का द्वेष करने से पाप होता है शास्त्र के सिद्धांत नहीं जानकर खंडन करना अनुचित है एक में दुराग्रह करके दूसरे मत का खंडन करना अनुचित है भक्ति की आवश्यकता है कुछ अद्वैत वेदांति अपने को ब्रह्म मान कर कह करके भक्ति का उपासना का खंडन कर देते कहते भक्ति उपासना कोई नहीं उसके बिना ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा भक्ति उपासना के बिना अंतकोण शुद्धि नहीं होती है हाँ ज्ञान में अद्वैत चिंतन करेंगे और कहीं द्वैत चिंतन के बिना उपासना के बिना अंतकोण शुद्धि के बिना अद्वैत चिंतन हो नहीं सकता है इसलिए अद्वैत मार्ग में चलने वाले द्वैत का खंड उपासना का खंडन भक्ति का ईश्वर का खंडन करना अनुचित है जहाँ खंडन होता है पारमार्थिक नहीं ऐसा कहा जाता है व्यावहारिक भेद है उपास्य उपासक भेद है उपासना का फल है उपास्य ईश्वर है सगुण ब्रह्म है जीव उपासक है ईश्वर उपास्य है ईश्वर फल देने वाला सब व्यावहारिक भेद मानते हैं वेदांत में द्वैतवादी लोग जितने मानते हैं सब व्यावहारिक अद्वैतवादी भी मानते हैं इसको अद्वैतवादी को समझना चाहिए व्यावहारिक भेद मानते हैं उसका खंडन नहीं होता है पारमार्थिक भेद नहीं पारमार्थिक अद्वैत ब्रह्म है सब का अधिष्ठान चैतन्य एक है तो स्वम पद का लक्ष्यार्थ तत्पथ का लक्ष्यार्थ एक है शुद्ध चैतन्य उसमें एकत्व में कोई विरोध नहीं है लक्ष्यार्थ को लेने के लिए समझना पड़ेगा मैं कहते समय देह उपस्थित हो जाता है सबको मालूम है आस्तिक दर्शन कोई देह को आत्मा नहीं मानता है तो भी मैं ब्राह्मण हूँ मैं मनुष्य हूँ ये बुद्धि नहीं जाती है कोई नहीं कहे दूसरे को किंतु मैं मनुष्य ही बुद्धि है या नहीं मैं मनुष्य हूँ मैं पुरुष हूँ बुद्धि है जब तक मैं मनुष्य में पुरुष में स्त्री से बुद्धि जो है तब तक देह में आत्मबुद्धि है तो न्याय वैशेषिक आदि सांख्यादि योग दर्शन में देह का आत्मा नहीं मानते तो भी ये व्यवहारिक प्रामाण्य मानता है माना जाता है ब्राह्मण यजेत ब्राह्मण ब्राह्मण नहंतव्य ब्राह्मण नहंतव्य ये सब वाक्य में ब्राह्मण क्षेत्र वैशिष्ट तो व्यावहारिक भेद है पारमार्थिक अद्वैत होने पर भी व्यावहारिक भेद रहता है जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तो ये मनन करके लक्ष्यार्थ लेने पर फिर निधि ध्यान करने से साक्षात्कार होता है अहम अस्मी ब्रह्म ये साक्षात्कार है अहम अस्मी ब्रह्म इसे साक्षात्कार हो जाने पर अज्ञान की निवृत्ति होती है तो निर्गुण से उपलब्धत्व है ना निर्गुण ब्रह्म श्रुति में है श्रुति प्रतिपाद्य है और साधकों को अधिकारी को साक्षात्कार होता है अधिकारी को हृदय प्रदेश मध्यस्थत्व अविरुद्धम इसलिए हृदय में उपलब्ध होने से हृदय प्रदेश में मध्यम स्थित कोई भी आपत्ति नहीं सगुण ब्रह्म जैसे हृदय कमल में स्थित ऐसे निर्गुण ब्रह्म भी हृदय कमल में हृदय में स्थित हृदय में स्थित का तो हृदय में उपलब्ध होने से हृदय में स्थित सर्वव्यापक है हृदय से अर्जुन तिष्ठती भगवान कहते ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से उसकी अभिव्यक्ति होती विशेष रूप से सर्वत्र है तो हृदय में भी है हृदय में सगुण ब्रह्म है निर्गुण ब्रह्म है सगुण भी है निर्गुण है कोई आपत्ति नहीं सगुण तो कोई अलग नहीं है निर्गुण ब्रह्म है तो सगुण है तो तथा च ध्यात्वा ध्यात्ता था मनन निधि ध्यासन कृत्वा एतदपि उपपन्नमेव ध्यात्वा तम ध्यात्वा मुनिर्गछति भूत योनि ध्यात्वा का अर्थ ध्यान करके ध्यान मनन निध्यासन भी ध्यान है मनन भी ध्यान है चिंतन जो श्रुति से जैसे सुना वो कैसे होगा ये ध्यान मनन और निधि ध्यान है संशय दूर होने पर निरंतर अहम ब्रह्मोस्मि इस प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह ये भी उपपन्नम एवं ये भी प्रामाणिक हो जाएगा सब निर्गुण ब्रह्म अर्थ करेंगे तो हो जाएगा और जो भूत में निद्या है भूत तो उपलक्षित शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त करता है समस्त साक्षिणम तमस परस्तात् सर्वूतस्थमात्मा सर्वूता चात्मनि संपश्यन ब्रह्म परम याति नान्यन हेतु न सर्वभूतस्थम आत्मान आत्मा सर्वूतेषु तिष्ठति सर्वूतस्थ तम आत्मा तार्किक लोग भी सिद्ध करते हैं कुछ लोग आत्मा को मानते हैं अणुपरिमाण और कुछ लोग आत्मा को होते देह परिमाण तो ये वेदांति को सिद्ध करना नहीं पड़ता तार्किक लोग न्याय वैशेषिक मत के अनुसार आत्मा व्यापक है उन मत का खंडन करके आत्मा में व्यापक तो सिद्ध किया गया यदि अणुपरिमाण होगा तो सुख दुख जैसे सुई वेदन शरीर में हो यहाँ यहाँ सुई वेदन हुआ इधर इधर इधर मच्छर काटा उधर चिंटी काटा ऐसे सुख दुख होता है इसी प्रकार आत्मा यदि सुई मनु परिमाणित शरीर व्यापी सुख दुख नहीं होगा गंगा जी में अभी स्नान के लगाएंगे ठंडा एक एक बिंदु में होता है पूरा शरीर में पूरा शरीर में एक साथ होता है धीरे धीरे पूरा एक साथ ठंडा है पूरा शरीर कांपता है हाँ तो पैर पूरा शरीर रात में उठते समय पहले पाद को उड़ते थे फिर मुख उठते फिर हाथ को इसे क्रम से या पूरा पूरा उड़ कर रखते हैं पूरा शरीर में शीत उष्ण उपलब्ध होता है अणुपरिमाण तो नहीं होगा और अणुपरिमाण होगा बहुत खंडन नहीं किया गया और कोई कहते देह के परिमाण वाला जैन लोग कहेंगे देह जितना बड़ा आत्मा इतना बड़ा है और मर गया कोई पाप कर्म के कारण हाथी बन गया तो देह शरीर मनुष्य शरीर के बराबर आत्मा हाथी के पूरा शरीर में रहेगा एक टांगे में आ जाएगा बाकी खाली आत्मा नहीं रहेगा और कहीं चिंटी बन गया तो थोड़े आत्मा चिंटी के सर बाकी आत्मा उसके ऊपर रहेगा वजन बन जाएगा नहीं तो कहीं कुछ अवयव चले गए कुछ अवयव आगे हाथी में जाएगा तो अवयव आगे जाएंगे बढ़ जाएगा और चिंटी में गया तो अवयव चले जाएंगे अवयव सवयव होगा तो ह्रास वृद्धि होगी तो अनित्य हो जाएगा आत्मा आत्मा को अनित्य कोई नहीं मानते हैं आत्मा में सावयव तो नहीं है निरवैव ये सब मत खंडन होता है आत्मा व्यापक ही आत्मा व्यापक है ये तार्किक लोग सिद्ध करते अभी जैसे ये सभागृह में आप बैठे हैं कोई भी कार्य होता है तो जिसको नहीं बीज प्रयोजनाभ्याम बिना कस्यचित उत्पत्ति रहती कारण उसका प्रयोजन के बिना किसी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है ये मकान जब बना ये इसमें प्राणियों का अदृष्ट कारण है जिनको भोग मिलेगा मिला है प्राणियों के अदृष्ट से कार्य बनता है केवल ये मकान नहीं ये पर्वत भी सूर्य चंद्र सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति ईश्वर करते प्राणियों के अदृष्ट से ये पर्वत है सामने आपके अदृष्ट से उत्पन्न हुआ है सबके जितने लोगों को पर्वत देखने पर सुख दुख होता है उनको उनके अदृष्ट से उत्पन्न हुआ ये सभागृह में बैठे तो आपका अदृष्ट कारण है ये घर निर्माण के समय में अदृष्ट कारण आप उस समय कहीं दूसरे स्थान दूर में थे कारण दूसरे स्थान में रहेगा कार्य अन्य स्थान में होगा क्या छाती के ऊपर बर्तन रख रखो और अग्नि जलाओ नीचे खिचड़ी पक जाएगी कार्य कारण सामान एक यहाँ अग्नि जलाओ उधर लेकर भात पकाओ कितने देर में पक जाएगा कार्य कारण एक अधिकरण होना चाहिए तो कार्य जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ कारण अदृष्ट चाहिए तो आपका अदृष्ट ये मकान बनते समय यहाँ था तभी ये अदृष्ट मकान का कारण हुआ अदृष्ट आपके अदृष्ट से मकान बना इसलिए आपको यहाँ बैठने के लिए मिलता है सुख अथवा दुख कोई साथ सुनता है कोई निधि से सो जाता है कुछ भी बहु तो अदृष्ट कारण है तो अदृष्ट आप यदि अणुपरिमाण आपका आत्मा कहीं दूसरे में था कोई तो केरल में था कोई पाकिस्तान में बांग्लादेश में था कोई कश्मीर में था कोई पंजाब में था यहाँ कैसे क्या अदृष्ट आपका आया आपका आत्मा यदि परिच्छिन्न होगा तो यहाँ कैसे अदृष्ट आपका रहेगा आत्मा में अदृष्ट मानते तार्किक लोग अंतकणे मानते वेदांत लोग तो अदृष्ट यहाँ था मानना पड़ेगा तो आपका आत्मा यहाँ था तभी आपका आत्मा में स्थित अदृष्ट मकान का कारण हुआ कोई कलम विदेश में बना कलम अपने पास आ गया वो विदेश में बना दस साल पहले आप यहाँ आए अभी कलम आपके पास आया वो जहाँ कोई कलम हो कोई वस्तु हो जिसकी उत्पत्ति हुई उत्पत्ति के पहले आपका अदृष्ट वहाँ कारण था तभी आपके हाथ पर आया हमारे हाथ पर आया किसी प्रकार हो किसी प्रकार हमारे हाथ पर आया तो इससे हम भोग करते सुख दुख होता है तो हमारा अदृष्ट उसके लिए कारण है अदृष्ट इसकी उत्पत्ति के समय हमारा अदृष्ट वहाँ था तभी अदृष्ट कारण हुआ कारण उनसे हमको सुख दुख मिलता है इसलिए ये भी निश्चय करना कभी आपको सुख दुख मिलता है तो असाधारण कारण है आपका अदृष्ट आपका कर्म दूसरे का कोई दोष नहीं कष्ट मिलता है तो आपका पाप कर्म उसका कारण है कभी भी दुख मिलता है तो उसका कारण है पहला अपना पाप दूसरे को दोष नहीं देना पहले समझा ये मेरा पाप कर्म का फल है और सुख मिलता है तो पुण्य कर्म का फल दूसरे को निमित्त बन जाएगा पाप कर्म का फल इसलिए दुख मिलते समय अन्य को दोष नहीं दे और दुख ज़्यादा उसमें कोई नहीं समझ है मेरे पाप कर्म का फल अपने किए हुए कर्म फल कौन भोग करेगा भोग लेना खुश होकर समझ लेना ये मेरा ही कर्म का फल है उसको कुछ नहीं करे भोग लेना चाहिए खुश होकर के पाप कर्म को समाप्त कर देना चाहिए भोग करके तो ये हो गया कर्म फल भोगना पड़ता है सबको पुण्य पाप कर्म इसलिए आत्मा यदि व्यापक नहीं हो तो ये उसका आपका अदृष्ट यहाँ नहीं रहता तो वो आपको यहाँ भोग नहीं मिलता भोग मिलता है तो आपका अदृष्ट था तो आत्मा व्यापक है ये तार्किक लोग सिद्ध करते हैं व्यापक आत्मा सिद्ध करते हैं तो आत्मा आपका आत्मा तार्किक लोग भी कहते हैं आपका आत्मा आपके शरीर में केवल नहीं सबके शरीर में है आपका आत्मा व्यापक है तो सबके शरीर में है विभू को व्यापक कहते हैं तार्किक लोग तर्क संग्रह बताते हैं विभुत्वम किम सर्वमूर्त द्रव्य संयुक्तम जितने मूर्त द्रव्य सब के साथ संयोग होगा तो विभु बनेगा क्रियावत्व मूर्तत्व शरीर क्रिया वाला है पृथ्वी जल तेज आदि वायु सब के साथ संबंध होगा तो विभु बनेगा आत्मा तार्किक मत के अनुसार जीवात्मा व्यापक है या ईश्वर व्यापक है मालूम है जीव भी व्यापक है ईश्वर तो व्यापक है जीव भी व्यापक है तो आपका आत्मा सबके शरीर में है ये तार्किक लोग सिद्ध कर देते हैं सर्वभूतस्थम आत्मान सर्वभूतम स्थित आत्मा है आत्मा सर्वभूतम स्थित है सारे भूत किस में स्थित है सब भूत में आत्मा है आत्मा का आश्रय भूत नहीं होता है सर्वभूत में स्थित का तो सर्वभूत नीचे ऊपर आत्मा सर्वभूत नहीं रहेगा तो आत्मा गिर जाएगा ये अर्थ नहीं आत्मा तो व्यापक भूत परिचिन परिचिन भूत में आत्मा आश्रित नहीं होता है ये भी तार्किक लोग सिखाते हैं आकाश व्यापक तो है आकाश कहाँ आश्रित है बताओ छात के ऊपर आकाश है या नहीं छात टूट जाएगा तो आकाश गिर जाएगा ये देखो ये हाथ पर है ये पुष्प है है नहीं हाथ को हटा दिया तो पुष्प गिर गया हाथ को ऐसे कर दिया ऐसे आएगा तो पुष्प रहेगा ऊपर कोई रखो हाथ हटा करके एक फुट ऊपर पुष्प रखो स्पर्श नहीं करना रख सके तो कोई इधर कैसे रखो पुष्प और हाथ को हटा दो रह जाएगा पतन होता है इसी प्रकार हाथ के ऊपर भी आकाश है या नहीं हटा दिया तो आकाश गिर जाएगा आकाश का पतन नहीं होता है व्यापक ही इसी प्रकार आकाश सर्वत्र होने पर भी किसी में आश्रित तो नहीं होता है हाथ आकाश का आश्रय नहीं है आकाश तो हाथ के ऊपर भी नीचे भी मध्य में सर्वत्र है आकाश आश्रित नहीं होता जो आश्रित होता उसको कहते आधेय जिसमें आश्रित होता होता अधिकरण भूतल है अधिकरण भूत हाथ अधिकरण इसमें पुष्प है आधेय इसी प्रकार आकाश आधेय रूप से कहीं नहीं रहता है आश्रित होकर के आकाश कहीं नहीं रहता है आकाश कहाँ आश्रित होकर रहता बताओ बोलो आकाश कहाँ आश्रित होता है आकाश होकर कहाँ रहता है बोलो ठीक से सिर क्या है तो आकाश आश्रित होकर के कहीं रहता है या नहीं रहता है क्या नहीं रहता है आकाश कहाँ नहीं रहता कहाँ रहता है आश्रित होकर कहाँ रहता है कहीं नहीं रहता है ना तो आकाश का अभाव रहता है आकाश आश्रित होकर कहीं नहीं रहता मतलब आकाश का जैसे घट नहीं रहता मतलब घट का अभाव रहता है हाथ में पुष्प है ना नहीं पुष्प का अभाव है इसी प्रकार आकाश कहीं आश्रित नहीं होता है इसका अर्थ तो है ना आकाश कहीं नहीं रहता है उसका अभाव रहता है ये तार्किक लोग सिखाते आकाश का अभाव सर्वत्र रहता है आकाश नहीं रहेगा आश्रित होकर के किंतु आकाश का अभाव रहेगा यही तार्किक लोग तर्क संग्रह सिखाते हैं आकाश अत्यंत अभाव केवल नई सर्वत्र रहता है केवल नई का लक्षण बदलना पड़ता है वृत्तिमत अत्यंत अभाव प्रतिवितम आकाश अत्यंत अभाव लक्षण चला जाएगा तो आकाश का अभाव सर्वत्र रहता है क्या अर्थात आकाश कहीं आश्रित नहीं होता है इसी प्रकार आत्मा भी कहीं आश्रित नहीं होता है तो सर्वभूतस्तम आत्मा कहा था आत्मा सर्वभूत में आश्रित है ऐसा नहीं है सर्वत्र आत्मा है आकाश है किंतु भूत में आश्रित नहीं है बल्कि भूत सब आकाश में आत्मा में आश्रित है सर्वभूतानि से आत्मनि सारे भूत आत्मा में है आत्मा है अधिष्ठान सारे भूत उसमें अध्यस्त है आत्मा सारे भूत है यमा पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति परमात्मा को सर्वत्र देखे और सर्व परमात्मा में यहाँ कहते यमा पश्यति वहाँ आ गया परमात्मा कहते यहाँ कहते सर्वभूतस्तम आत्मान सर्वभूतानि च आत्मा ने आत्मा सारे भूत में सारे भूत आत्मा में मस्तानी सर्वभूतानी न च मस्तानी न च हम तेस अवस्थित मस्थानी सर्वभूतानी मेरे में सारे भूत है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ मस्थानी सर्वभूतानी कह करके आगे क्या कहते हैं न च मत्स्थानी भूतानी न च मस्थानी भूतानी मस्थानी सर्वभूतानी न तेस्व न अवस्थित न च मत्स्थानी भूतानी पश्य में योगम ईश्वरम पहले कहते मत्स्यानी सर्वभूतानी फिर कहते हैं न च मत्स्यानी भूतानी मत्स्थानी भूतानी न मेरे में भूत नहीं है ये कोई कोई लोग कहते परस्पर विरुद्ध है भगवान कहते हैं नहीं समझ करके विरुद्ध विरुद्ध नहीं है मत्स्थानी सर्वभूतानी पहले कह करके आगे क्या कहते न च मत्स्थानी भूतानी मेरे में सर्वभूत है ही नहीं सारे भूत मेरे में है और सारे भूत मेरे में नहीं है ये कहते भगवान स्वयं इसी प्रकार सर्वभूत है सर्वभूत नहीं का अर्थ मरुभूमि में जल दिखता है कहाँ जल दिखता है कल्पित जल दिखता है वास्तव जल है क्या जो जल दिखता है मरुभ में वो मरुभ में कहाँ है कल्पित जल कहाँ है मरुभ में मरुह में जल है क्या मरुभ में जल है कहते फिर कहते मरुभ में जल नहीं है मरु में जल नहीं मतलब वास्तव मरु में जल नहीं है और जो सामने दिखता है जल मरुभ में दिखता है मरु में है अर्थात मरुभ में जल कल्पित है मेरे में भूत है ही नहीं और मेरे में भूत है का अर्थ भूत सब मेरे में अध्यस्त कल्पित है इससे सिद्ध होता है सारे भूत मिथ्या प्रपंच भगवान स्वयं गीता में कहते मस्तानी सर्वभूतानी न मस्तानी भूतानी जे सारे ब्रह्मांड दिखता है वो मेरे में दिखता है वस्तु तो मेरे में है ही नहीं जो दिखता है और नहीं है उसको सत्य कहेंगे पारमार्थी को दिखता है किंतु नहीं है मिथ्या है जादूगर किसी आदमी के सिर काट देता है तो गला काट दिया सिर एक तरफ धड़े की तरफ कर दिया जादू दिखाते मैजिक दिखाने वाले वस्तु तो आदमी को काट देता है ऐसे दिखाता है लोग देखते देखने पर भी है नहीं है मिथ्या उसका नाम है झूठा दिखा देता है नहीं काटने पर ही दिखा देता है तो वो सारे प्रपंच दिखता है किंतु नहीं तो उसका नाम मिथ्या है तो ये सर्वभूता नीचे आत्मनि में सर्वभूत में आत्मा है आत्मा में सर्वभूत है इसको जो जान लेता है संपश्चन ब्रह्म परम याति परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है जो इसे समझ सम्यक पश्चन साक्षात्कार कर लेता है अपने को सर्वभूत में मैं सर्वत्र हूँ और सारे कुछ मेरे में है सारे कुछ मेरे में है क्या था सारे कुछ मेरे में अध्यस्त है व्यापक आपका स्वरूप है आपका स्वरूप और आप दोनों में भेद है ना नहीं भेद है या नहीं बोलो कोई नहीं बोलते इतने लोग बैठे आपका स्वरूप और आप दोनों में भेद है या नहीं बोलो जोर से कोई है नहीं करते नहीं भी नहीं करते है भी नहीं करते कहीं ये कहेंगे तो गलती हो जाएगी नहीं करना चाहे ये कुछ लोग ऐसा सोचते हैं आप कहा जाता है मेरा स्वरूप मेरा आत्मा एक ही है ये विकल्प प्रयोग होता है गौण प्रयोग है एक में भी भेद प्रयोग हो जाता है मम आत्मा मेरा स्वरूप स्वरूप एक है अधिष्ठान है उसमें सारे प्रपंच अध्यस्त है जो स्वरूप अधिष्ठान है वही एक अद्वितीय ब्रह्म है सर्वम खलुदम ब्रह्म जो कहा सब कुछ ब्रह्म ही है वासुदेव सर्वम का है कि ब्रह्म है वही आत्मा है क्योंकि आत्मा में सारे भूत है सर्वभूतानी च आत्मनि यमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति ईश्वर में सबको देखता है सबको ईश्वर में देखता है आत्मा में इस सबको देखता है आत्मा ईश्वर एक संपश्यन ब्रह्म परम याति अहम अस्मि एक अद्वितीय ब्रह्म है सर्वम कलविदम ब्रह्म का वही आत्मा है जो ब्रह्म है सदैव समिदम अग्र आश्रित कह करे तत्सत्यम सात्मा तत्वसी जो ब्रह्म है वही सत्य है वही आत्मा है तुम वही हो एक अद्वितीय ब्रह्म उसको जो जान लेता है संपत्न साक्षात्कार कर लेता है परम ब्रह्म याति परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है प्राप्त करता मतलब परम ब्रह्म रूप हो जाता है अप्राप्त की प्राप्ति नहीं प्राप्त की प्राप्ति अविद्या व्यवधान नष्ट हो जाता है अज्ञान नष्ट हो गया तो कहते प्राप्त हो गया परम ब्रह्म याति अन्य हेतु ना न याति न अन्य हेतु ना अन्य किसी कारण से नहीं जाएगा ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता है ब्रह्म नित्य प्राप्त होने पर भी जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक अप्राप्त जैसे जैसे पहले से अनादिकाल से अप्राप्त इसी प्रकार अप्राप्त ही रहेगा अन्य जितने भी करे एक ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके ब्रह्म ज्ञान हो गया तो अज्ञान नष्ट होगा ज्ञान होते ही अज्ञान अष्ट होता है अज्ञान अष्ट करने के लिए साधन करना है ब्रह्म यदि नित्य प्राप्त है अपना स्वरूप है तो क्यों परिवर्तन करने की आवश्यकता क्या है वो अज्ञान की निवृत्ति करना यदि निश्चय हो गया तो अज्ञान नहीं तो कोई प्रयत्न जरूरत नहीं बहुत लोग कहते हमको निश्चय तो हो गया हम ब्रह्म है निश्चय हो जाता है ना नहीं निश्चय हो जाता है तो देह में हम बुद्धि नहीं होनी चाहिए यदि हम ब्रह्म व्यापक में हूँ शब्द से नहीं ऐसा निश्चय हो तो देह में परिचन्न में बुद्धि नहीं हो सर्वत्र सर्व अद्वितीय ब्रह्म में हूँ ऐसा निश्चय शुद्ध व्यापक तब ये निश्चय हुआ तब तो ये ज्ञान हो गया अहम अस्मी ब्रह्म यही ज्ञान ही साधन है ब्रह्म प्राप्ति के लिए अन्य किसी से नहीं ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह करवा वही तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति